बिलाशुबा यकीन अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों में तुम्हारी मदद की है और हुनैन के दिन भी जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंद बना दिया फिर वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन वसी होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई फिर तुम पीठ फेरते हुए लौट गए